एकादश मंत्र हो गया था भाष्य हो गया था द्वादश मंत्र हो गया था द्वादश मंत्र है तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरिष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देव मत्वा धीरो हर्ष सगो जहाति आत्मतत्व जिसको जानना चाहता है नचिकेता दुर्दर्श का दुखे न दर्शनम से दुर्दर्शम अति सूक्ष्म तत्व है गूढ़ है गहन देश में प्रविष्ट है छिपा हुआ जैसे है सर्वत्र है उपलब्धि होती बुद्धि में बुद्धि गुहा में स्थित गूढ़ अनुप्रविष्टम तो प्रविष्ट है गहन देश में स्थित प्रविष्ट जैसे गुहा में आहितम गुहायाम बुद्धि रूप गुहा में स्थित यद्यपि सर्वत्र विद्यमान है तो बुद्धि में इसकी उपलब्धि होने से गुहाहितम गह्वरिष्ठम गह्वर में अत्यंत दुष्प्रवेश गह्वर है जहाँ प्रवेश करना कठिन इस स्थल में स्थित पुराणम पुरातन है पुरापि नव है अध्यात्म न देवम अध्यात्म योगाधिगम अध्यात्म योग का गमन प्रा अधिगम प्राप्ति अनात्म वस्तु का तिरस्कार करके आत्मा में स्थिर रहना यही मत्व साक्षात्कार करके धीर हर्ष शोक को जहाती विषयजन्य हर्ष शोक को दोनों को छोड़ देता है परिपूर्ण नित्य आनंद रूप से रहता है भाष्य में कहा यम तम ज्ञानतुम से आत्मानम तम दुर्दर्शन जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो दुखेन दर्शनमस्यति दुर्दर्शन उसका दर्शन दुख से दुख से क्या था तो, अप्रमत्त होकर के निरंतर प्रयास करने से होता है ऊपर ऊपर से नहीं विषय सेवन करने में मन बाहर जाने में अच्छा लगता है मन को बाहर से रोकना इंद्रियों को बाहर प्रवाह रोकना यही दुख पहले होता है इंद्रिय मन के स्वभाव के विपरीत प्रयत्न करना पड़ता है प्राकृतिक स्वभाव तो प्रकृति से स्वभाव से पशु पक्षी के समान इंद्रिया बाहर दौड़ती है मन भी बाहर दौड़ता है अनेक जन्म की वासनाएं उसको विपरीत मार्ग में बाहर से हटा करके अंदर लगाना यही दुख है पहले दुख लगता है बाद में अभ्यास होता है ठीक होता है परमानंद प्राप्ति का साधन होता है अति दुर्द दुर्दश ही क्यों अति सूक्ष्मत्वाद ये अत्यंत सूक्ष्म है बाह्य वस्तु तो घटपट रूप प्रसाद स्थूल पदार्थ दिखता है इंद्र दौड़ती है आत्म तत्व अंदर है सर्वत्र है किंतु नहीं दिखता है सूक्ष्म है इंद्र का विषय नहीं है विषय नहीं होने से उसका चिंतन भी नहीं हो पाता है इसलिए दुख होता है कैसा चिंतन करें आत्म तत्व का लगाना चाहते ध्यान करना चाहते हैं क्या ध्यान ध्यान करेंगे कहते आत्मा गुण नहीं रूप नहीं सब अस्तुलम अननु अहर्षम निर्विशेष सगुण का तो चिंतन कोई कोई कर ले शास्त्र प्रमाण से समझ करके निर्गुण है निर्विशेष उसका क्या चिंतन करेंगे तो उसका श्रवण करके आचार्य से उपदेश लेकर के निर्गुण का भी ध्यान होता है जैसे सगुण का ध्यान करते समय गुण चिंतन करना होता है निर्गुण का ध्यान करते समय गुणों का निषेध करके ध्यान करना है एक में तो गुणों का आरोप करके ध्यान करो और निर्गुण के में गुणों का निषेध करके सब धर्म का निषेध करके चिंतन करना है तो भी अति सूक्ष्म होने से दुर्दर्श है गूढ़म का तो गहनम गहन है वन दुख आदि में वन में होता है गहन दुख में प्रविष्ट गहन वन में जैसे प्रविष्ट हुआ अत्यंत छिपा हुआ अनुप्रविष्टम प्राकृत विषय विकार विज्ञाने प्रच्छन्नम इसका अभिप्राय यह हुआ गहन में प्रविष्ट हो गया का अर्थ ढक गया प्रच्छन्नम प्रकर्षण छन्नम किससे प्राकृत विषय विकार विज्ञाने प्राकृत विषय विकार के ज्ञान प्राकृत सामान्य प्रकृति से होने वाले प्राकृत विषय रूप रस आदि विकार कार्य वर्ग है उनका ज्ञान उसके ज्ञान से रूप रस घटपट आदि ज्ञान से ही ढका गया बाह्य वस्तु के ज्ञान से ही आत्म तत्व हृदय में स्थित होते हुए भी प्रच्छन्नम दिखता नहीं जब बाह्य वस्तु चिंतन छोड़ दे तब आत्म तत्व अभिव्यक्त होता है गुहाहितम गुहायाम स्थितम गुहाय बुद्धि रूप गुहा गुहा तो गुफा है यहाँ बुद्धि गुहा जैसे गुहा गुफा में कोई बैठा है पता नहीं चलता है इसी प्रकार बुद्धि रूप गुहा में स्थित है अंदर है बुद्धि सर्वव्यापक है बुद्धि में ही बुद्धि में स्थित है इसलिए कहा तत्र उपलभ्यमानत्वाद मान वहीं उपलब्धि होती है आत्म तत्व की, की उपलब्धि सर्वव्यापक होने पर भी बुद्धि में ही जब बाह्य विषय छोड़ करके एकाग्र होकर के चिंतन करेगा तो बुद्धि में वृत्ति होती वही अधिष्ठान चैतन्य आत्म तत्व की उपलब्धि अभिव्यक्ति होती है अहम अस्मि ब्रह्म इस ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा आवरण भंग होने से साक्षात्कार होता है गहवरेष्ठम गहवर तिष्ठति इति गहरे का विषम है विषम देश अनेक अनर्थ संकट तिष्ठति इति अनर्थ संकट देश में स्थित है गहरेष्ठम वो अनर्थ है बाह्य चिंतन करना बड़ा सरल होता है रो करके अंदर चिंतन करना और वह सामान्य स्थूल दृष्टि देखें तो क्या है वहाँ बड़े-बड़े कहते वैद्य लोग डॉक्टर लोग कहते अंदर कुछ दिखता नहीं सर्वव्यापक सर्वत्र है होने पर बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है इसी प्रकार चिंतन करने पर बाह्य चिंतन को रोक करके आगम प्रमाण से मनन करने पर वही साक्षात्कार होता है अनर्थ संकट तिष्ठति इति गौरिष्टम सब स्थान में स्थित व्यापक हो ऐसे कोई स्थान नहीं जा नहीं है गौर देश में स्थित बुद्धि रूप में स्थित शरीर तो दिखता है शरीर के अंदर क्या है उसके अंदर कहाँ बुद्धि है बुद्धि पता नहीं चलता है इसलिए वहाँ स्थित होने से कहाँ ध्यान करेंगे कैसे चिंतन करेंगे ये वेदांत प्रमाण उपदेश गुरु उपदेश के बिना अपने आप ढूंढे तो नहीं मिलेगा यत एवं गूढ़म अनुप्रविष्ट गुहायत अत गहरेष्टम गूढ़ छिपा हुआ अनु प्रविष्ट हो गया विज्ञान से ढक गया बाह्य विषय ज्ञान से बुद्धि रूप गुहा में स्थित इसे गहरेष्ट विषम देश में स्थित अतो दूरदर्श इसलिए दूरदर्श पहले दूरदर्श जो कहा था उसका हेतु है क्योंकि गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहायतम इसलिए गहरेष्ट हुआ इसलिए दुर्दर्श हुआ तम पुराणम वो परमात्म तत्व पुराणम पुरातनम आत्म सबसे पुरातन है पुरापि नव पुराण ऐसा भी अर्थ किया जाता है एक ही आत्म तत्व सत्य है अनादि काल से है बाकी अविद्या आदि अनादि मानते हैं अविद्या आदि की सत्ता आत्मा से अलग नहीं है वस्तु तो कोई माया नाम का पदार्थ आत्मा से भिन्न है ही नहीं वो भी अध्यस्त है एक ही आत्म तत्व है अनादि अनंत उसका इसकी प्राप्ति कैसे होगी अध्यात्म युग अधिगमेन अध्यात्म युग क्या है आत्मनिति अध्यात्म देह के अंदर आत्मा में स्थित विषयभ्य प्रतिसंहित चेतस आत्मनि समाधानम अध्यात्म युग यही अध्यात्म युग है विषय में विषय को इंद्र दौड़ती है मन में भागता है ये मन यन मनो न तदस्य तदस्य हरति प्रज्ञा इंद्र दौड़ते है उसके पीछे मन भागता है मन भी बुद्धि को विवेक बुद्धि को भी खींच लेता है तो विषय से प्रतिसंहित वापस हटा करके चेतस आत्मनि समाधानम चित्त को आत्मा में लगाना सम्यक आधानम स्थिर करना आत्मसंस्तमन कृत्वा न किंचित अपि चिंतित मन को बाहर से हटा करके आत्मा में लगाना ये अध्यात्म युग तस्य अधिगम अधिगम है इसकी प्राप्ति तेन मत्वा उसे मत्व है मन साक्षात्कार करके देवम परमात्मा आत्मा धीरो धीमान बुद्धिमान बुद्धिमान ही धीर है धीर ही बुद्धिमान होता है चंचल होने पर बुद्धि स्थिर नहीं होती है हर्ष शौकाव आत्मन हर्ष उत्कर्ष अपकर्ष और अभावात जहाति हर्ष शोक को छोड़ता है कि आत्मा में कोई उत्कर्ष अपकर्ष पुण्य कर्म से आत्मा में कुछ उत्कर्ष हो जाएगा आधिक्य पाप कर्म से कुछ निकर्ष हो जाए न्यूनता कुछ नहीं आत्मा तो एक रस है स्वरूप में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है कुछ सुधार करने का है ही नहीं ना कोई महिला है ना कुछ हटाना है ना कुछ प्राप्त करना है उत्कर्ष अपकर्ष कुछ नहीं सदा एक रूप है उत्कर्ष के कारण हर्ष होता है अपकर्ष से शोक होता है कुछ कम देखता अपने में कम हो गया बढ़ गया शरीर में थोड़ा सा मोटापन आ गया कुछ अच्छा हो गया कोई दुर्बल है खुश हो जाता है मोटा हो आशा हो गया और थोड़े फिर दुर्बल दुर्बल हो गया तो दुखी हो जाता है और कोई तो मोटा अधिक हो गया तो दुखी हो जाता है <laughs> मोटा अधिक हो तो सोच को ठीक करने के लिए रुपया खर्च करते हैं जा करके के कसरत करेंगे डॉक्टरों को भी रुपया देंगे योग करना अब दूर थोड़ा कम हो गया तो बड़ा खुश है फिर मोटापन बढ़ गया फिर कहो दूध छोड़ो मलाई छोड़ो घी छोड़ो फिर जो मोटेपन हो जाते हैं कुछ कम खाए तो भी मोटापन कम नहीं होता है उत्कर्ष अपकर्ष से हर्ष शोक होता ही रहता है में किसको कहाँ हर्ष शोक हमेशा ही किंतु आत्म तत्व में कोई उत्कर्ष अपकर्ष है ही नहीं है देह का मन का इंद्रिय का ये सब धर्म अनात्मा धर्म है अनात्मा धर्म के साथ आत्मा का कोई संबंध कभी होता ही नहीं है असंग है असंगो ही एवं पुरुष असंग तत्व के साथ किसी का कोई धर्म नहीं उत्कर्ष अपकर्ष है ही नहीं तो हर्ष सुख कहाँ से होगा उत्कर्ष अपकर्ष से कारण हर्ष सुख होता है दोनों का अभाव जो निश्चय हो जाता है हर्ष सुख को जहाती छोड़ देता है जब तक दे, देहादि के साथ आध्यात्म अध्यास करता है उसमें उत्कर्ष अपकर्ष हर्ष सुख होता है आत्म तत्व देहादि से विलक्षण जब निश्चित हो जाता है तो हर्ष शोक है ही नहीं कुछ करने का है ही नहीं इसमें धीर कहने से धीर स्थिर होकर के धीर कण से श्रवण मनन दोनों धीमान बुद्धिमान कण से धीर का थे धीमान बुद्धि अच्छी बुद्धि हुई है जिज्ञासा से वेदांत श्रवण श्रवण करने के बाद भी मनन बुद्धि अच्छी हो तो मनन कर सकता है बुद्धिमान दे दोष हो तो श्रवण कर नहीं पाते हैं मनन कहाँ करना है अत्यंत बुद्धिमान द्यादवा वाप्य संभवात यो विचारम न लभते ब्रह्मपासितम सोनिशम बुद्धिमान दे अत्यंत हो और आचार्य शास्त्र प्राप्त नहीं हो तो विचार श्रवण मनन आसन नहीं कर सकता है अपने को कोई बुद्धिमान मानने से बुद्धिमान नहीं होता है श्रवण मनन निधि ध्यान सबसे अंतरंग साधना शास्त्र प्रमाण है आत्मा बारे द्रष्टव्य दर्शन का अनुवाद करके श्रोतव्यो मंतव्यो निधि से का यही प्रमाण है और ज्ञान होगा प्रमाण से श्रवण वेदांत श्रवण प्रमाण का विचार है प्रमाण विचार के बिना प्रमाण महावाक्य महावाक्यार्थ ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है तत्वमसे आदि महावाक्य ये वेदांत प्रमाण प्रमाण दो प्रकार है एक तत्व आवेदक प्रमाण और एक अतत्व आवेदक प्रमाण तत्व आवेदक प्रमाण है तत्व से आवेदक तत्व को ज्ञान कराने वाले प्रमाण ये तत्वमसे आदि महावाक्य है आवेदक प्रमाण पारमार्थिक तत्व को ज्ञान कराने वाले प्रकट कराने वाले ज्ञान उत्पन्न करने वाले प्रमाण है महावाक्य उसको छोड़कर बाकी जितने प्रमाण प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जिसे व्यवहार करते हैं प्रत्यक्ष हम देखते चक्षु आदि से अनुमान करते ये जितने प्रमाण है सब अतत्व आवेदक प्रमाण तत्व आवेदक नहीं है प्रत्यक्ष हम देखते हैं पर्वत देखते समुद्र देखते हैं ये तत्व आवेदक नहीं तत्व को बताने वाले नहीं है तत्व ज्ञान चक्षु आदि से होता ही नहीं जिस प्रकार स्वप्न में जितने इंद्र द्वारा जितने ज्ञेय पदार्थ सब मिथ्या है इसी प्रकार जागृत प्रपंच में जो उसको हम प्रमाण से जानते हैं सब दृश्य मिथ्या स्वप्न दृश्य के समान जिसको हम प्रमाण मानते प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द आदि वो तत्वावेदक नहीं अतत्वावेदक प्रमाण एक ही तत्वावेदक प्रमाण वेदांत वाक्य महावाक्य जिस प्रकार विद्या दो प्रकार है पराविद्या अपराविद्या पराय ब्रह्म विद्या अथ पराय या तद अक्षरम अधिगम्यते उसको छोड़कर बाकी जितने विद्या सो अपरा विद्या है इसी प्रकार ब्रह्म को ज्ञान कराने वाले प्रकट कराने वाले ब्रह्म अपना स्वरूप है उसको ज्ञान कराने वाले महावाक्य ही तत्ववेदक प्रमाण उसको छोड़कर बाकी जितने प्रमाण जिस प्रत्यक्ष को हम बड़ा प्रमाण मानते हैं वो प्रत्यक्ष भी अतत्वावेदक प्रमाण तत्ववेदक नहीं है इसलिए वेदांत वाक्य विचार श्रवण ही अंतरंग साधना कुछ लोग श्रवण को नहीं मान कर कहते हम तो योग अनुष्ठान करते हैं और कहते योग मार्ग में तो बिल्कुल एकदम शीघ्र ही साक्षात्कार हो जाता है कुछ लोग उनके पीछे दौड़ते हैं सोते ऐसी बात है कोई चमत्कारी भी कुछ दिखा दिया लोग सोते बड़ा अच्छा है कुछ नहीं तो कम से कम सम्मान तो मिल जाता है लोग तो मानते हैं इसमें तो ब्रह्म ज्ञान क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है ऐसे चलते लगते रहते क्या होगा कोई चमत्कार मिला तो अच्छी बात है चमत्कार जिसको अच्छा लगता है देखने के लिए दिखाने के लिए वो चमत्कार के पीछे बह गया यही चमत्कार है आत्म तत्व साक्षात करना चाहिए उसको छोड़ करके मिथ्या वस्तु के पीछे भागता है ये कम चमत्कार नहीं है लक्ष्य क्या है और भागता कहाँ दूसरे को ठगना चाहता है स्वयं ठगा जाता है इसलिए धीर होता है ये धीर शब्द से श्रवण मनन बुद्धि मानद्य नहीं हो बुद्धि में तीक्ष्णता होने पर मनन होगा श्रवण करने के बाद मनन श्रवण करने के लिए चाहिए शास्त्र तात्पर्य निर्णय करना और उसके साथ साथ सही शास्त्र श्रवण के समय मनन भी होता है केवल महावाक्य श्रवण अलग है वेदांत उपनिषद आदि उसके अनुकूल स्मृति भी भाष्य के साथ अध्ययन ये श्रवण मनन दोनों होता है तो इस मंत्र में धीर कह करके श्रवण मनन उसके बाद श्रवण मनन के बाद अध्यात्म योग अधिगम ये हो गया निधिध्यासन श्रवण मनन का निधिध्यासन अध्यात्म योग विषय हटा करके मन को आत्मा में लगाना श्रवण मनन के बाद ही निधि ध्यान होता है संशय दूर होने पर मनन करने पर प्रमेय संशय दूर होता है निसंदिग्ध होने पर मन स्थिर होता है फिर भी मन का स्वभाव भाग जाता है विपरीत भावना के कारण देह में हम बुद्धि है विषय में सत्य तो बुद्धि है विचार करके निर्णय हुआ तो भी इतने दृढ़ वासना है सत्य तो बुद्धि है प्रपंच में फिर मन जल भागता है इंद्रिय भक्ति है तो बार-बार इनको हटा करके लगाना अंदर कुछ अंदर सूक्ष्म रूप से वासना हो देखे क्या वासना है क्यों बाहर जाता है उस विचार करके मन में सूक्ष्म वासना को हटाना और मन में आत्मा में लगाना ये निधि ध्यान अध्यात्म अधिगमन मत्वा ये मत्वा है साक्षात्कार मन ज्ञान साक्षात्कृत्य मत्वादेव परमात्मा भी आत्मस्वरूप है धीरो धीमान हर्षस को छोड़ देता है श्रवण मनन निधिध्यासन से ही ज्ञान होता है इसे मत्वा कहकर साक्षात्कार हुआ अध्यात्म युगाधिगम कहकर निधिध्यासन अधीर कह करके श्रवण मनन ये आगे भी स्पष्ट करेंगे यही है ठीक है ठीक है हो गया था ना ठीक है हो गया नहीं हो गया था पूरा हम्म, हुआ था पृष्ठ वस्तु की प्रशंसा से पृष्ठा की प्रशंसा करते हैं ज्ञान तुम ज्ञान तुम अभी त्रयोदश मंत्र है किंच एतद यद यदहम वक्षामि आत्मतत्व का उपदेश करेंगे आत्मतत्व ज्ञान ही संसार का निवर्तक है कारण अविद्या के साथ संसार का निवर्तक ये शुद्ध क्या करके आनंद प्राप्ति साधन ज्ञान है संसार निदान है मूल कारण अज्ञान के साथ संसार का निवर्तक दुखों के आत्यंतिक निवृत्ति इसका साधन आत्म तत्व ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति का भी साधन तत्व ज्ञान इसको कहते हैं किंच एतदात्म तत्वम हम वक्षामि जिस आत्म तत्व का मैं उपदेश करूंगा इसके लिए कहते हैं एतत् श्रुत्वा सम परिवृह्य मर्त्य प्रवरिह धर्म्यम आप्य समुदते मोदनियम हि लब्ध्वा विवृतम सद्मनचिकेत सम्मन्ने एतत् तत्वम श्रुत्वा ये श्रवण है श्रवण करके श्रवण के बाद संपरिब्रिह्य सम परिवृह बृह ने सम्यक परिवृह पृथक करके सम निश्चय करके परिवृह सम्यक परिवृह सम आगे भी प्रवृह आगे परिवृह है निश्चय करके मनन हुआ फिर मर्त्य मरण धर्म वाला प्रवृह धर्मम फिर प्रवृह उद्यम यह प्रवृत्ति उद्यम क्या करना पृथक करना देहादि से पृथक करना है पृथक करना क्या देहादि से मैं नहीं हूं मनन का निधि ध्यासना अणुमेतम आप्य ये अणु तत्व सूचों का आप्य का साक्षात्कार करेंगे आत्म तत्व की प्राप्ति साक्षात्कार से अतिरिक्त नहीं है अपना स्वरूप होने से उसकी प्राप्ति कुछ नहीं है ज्ञान हुआ तो प्राप्त हो गया दशम कहाँ गया दशम कहाँ गया दसम से सुना मैं दसवां ज्ञान हो गया तो दशम मिल गया और दशम को प्राप्त करने के कहीं ढूंढना जाना नहीं पड़ता क्यों सही दशम है इसी प्रकार आत्म तत्व जब ज्ञान हो जाता है प्राप्त हो गया इसलिए आप्य का अर्थ प्राप्त करके साक्षात्कार करके तो श्रवण हो गया तो श्रुत्वा संपरिबृह मनन उसके बाद निश्चय करना संपरिबृह निश्चित्य उसके बाद प्रबृह उद्यम देहादि से पृथक स्थिर होने से धर्म से युक्त अधर्म्यम अनुम सुख्यों को प्राप्त करके साक्षात्कार करने पर सम्मोदते प्रसन्न हो जाता आनंद परमानंद की प्राप्ति करता है मोदनियम ही हुआ मोदन ही आत्मतत्व हर्षणीय इसको प्राप्त करने से साक्षात्कार किया तो, प्राप्त हो गया प्राप्त होने से ही आनंद हो जाता है हे न हे न नचिकेतसं त्वाम विवृतम शब्दं अहम मन्ये तुम्हारे लिए सद्म मोक्ष मुख्य का द्वार खोला हुआ है सद्म है गृह ये विवृतम खोला हुआ ऐसे जो अधिकारी है ज्ञान हो ही जाएगा उपदेश के बाद अभी उपदेश शुरू नहीं हुआ तुम्हारे लिए खोला हुआ द्वार मैं मानता हूँ ब्रह्म का जो स्वरूप है भवन न सद्मन गृह के जैसे उसे तुम्हारे लिए खोला हुआ द्वार खोला हुआ मोक्ष के तुमको मोक्ष प्राप्त करने के लिए तुम योग्य हो अत्यंत हो उपदेश करते ही ज्ञान हो जाएगा किंच तद आत्मतत्वम यदहम वक्षामि तत्श्रुत्वा श्रवण श्रवण करके श्रवण भी करना आचार्य प्रसादात सम्यक आत्मभावेन श्रवण करना आचार्य प्रसाद से श्रवण होता है विधिवत श्रवण करने के बाद फिर सम्यक संपरिव्रिय सम्यक परिगृह में परिगृह्य हाँ ये संपरिगृह्य या संपरिगृह में पड़ गया था एत श्रुत्वा संपरिगृह ग्रहण करना ग्रहण करना ज्ञान है निश्चय करना संपरिगृह ग्रहण करके जान करके सम्यक कहा था आत्मभावेन यही सम्यक परिग्रह आत्म तत्व का ग्रहण सम्यक ग्रहण होता है आत्मभावेन भावेन पहले तो परमात्मा अलग है कहाँ ऊपर ब्रह्मलोक में कहाँ वैकुंठ में कहाँ समुद्र के ऊपर क्षीर समुद्र में ये सब विभिन्न प्रकार संस्कार है श्रवण करने पर जब होता है एक ही आत्म तत्व उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं सदैव समिदम अग्रासित ऐसे बहुत श्रुति है एक तत्व ब्रह्मेव इदम सर्वम सर्वम इधम ब्रह्म एक ही तत्व होने से वही आत्म तत्व है तत्वम से दिवाक्य से कहा गया संपरिगृह संपरिगृह सम्यक परिग्रह स्वीकार करना आत्मभावेन परिग्रह परिग्रहण करना निश्चित निश्चय करके मनन के बिना निश्चय नहीं होता है श्रवण तो कर लिया तत्वम से महावाक्य से सुन लिया जीव वर्म की एकता जिसकी श्रद्धा नहीं दुराग्रह है श्रवण करने पर भी निश्चय नहीं होता है द्वैत में तो रहता है सबका अच्छा साधक होने पर भी सब द्वैत उपासना पहले करते ही है उसके बिना अद्वैत ज्ञान हो नहीं सकता है द्वैत में सत्य तो बुद्धि भी अनादि काल से इतने दृढ़ है तो तत्वमसि आदि महावाक्य सुनने पर भी शास्त्र का तात्पर्य कैसे एक होगा कुछ लोग तो उसको अर्थ अलग करते तत्वमसि का था तस्मात् त्वमसि तस्मै त्वमसि तस्य त्वमसि तस्मिन् त्वमसि तत्व का एक पद है समा समाज कर देंगे तस्मात् त्वं तस्मै त्वं तुम तो उसके लिए परमात्मा के रूप परमात्मा से तुम आए तस्मात् त्वं तस्य त्वं तुम ही परमात्मा का ही हो परमात्मा नहीं परमात्मा का अर्थात तस्मिन् त्वं परमात्मा में तुम आश्रित हो ऐसा करके एक तुम तत् ऐसा नहीं तत्व तद अलग पद त्वं अलग पद तुम हो ऐसा नहीं तुम उससे उसके लिए उसका उसमें ये अर्थ करना चाहते हैं तो बहुत श्रवण करने पर भी निश्चय नहीं होता है और श्रवण करने के बाद <clears throat> फिर मनन के बिना संशय निवृत्त नहीं होता कैसे अद्वितीय कैसे होगा जगत मिथ्या कैसे मैं कैसे आत्म तत्व इसमें मनन करना पड़ता है मनन करने पर ही परिग्रह ग्रहण होता है जो श्रवण किया आचार्य से फिर इसका ग्रहण मनन इसलिए भाष्य टीका आदि अध्ययन के समय श्रवण मनन दोनों होता है ये श्रवण मनन साधन की अपेक्षा कोई उत्कृष्ट साधन और दूसरा है नहीं बाकी जितने साधन अंतःकरण शुद्धि के लिए श्रवण काल में मनन होता है और श्रवण मनन के द्वारा यदि संशय निवृत्त हो जाता है तो श्रवण काल में भी निदिध्यासन ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है ब्रह्माकार वृत्ति अहम ब्रह्म निश्चय जैसे मैं मनुष्य हूं यह निश्चय है ऐसे में मनुष्य नहीं देह नहीं आत्म तत्व ये निश्चय करने के लिए निश्चय यह योग मार्ग ध्यान अलग है निधि ध्यान अलग है सामान्य ध्यान करने के लिए आसीन संभवात बैठ कर ध्यान करें स्थिरम सुखम आसनम ये सब बहुत है पहले आवश्यक है हाँ। एकाग्रता मन स्थिरता के लिए किंतु वेदांत श्रवण जन्य जब ज्ञान होता है श्रवण के बाद मनन कैसे हो सकता है ये विचार करना ये मनन में ही जब मन लग करके निश्चय हो जाता है तो अपने आप ही ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति कोई बहुत लोग तो उसके नाम से डर जाते हैं ब्रह्माकार वृत्ति क्या है ब्रह्म का आकार भी कहाँ है तो कुछ वृत्ति क्या है कोई नहीं मैं ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय श्रवण मनन करने के बाद यदि लक्ष्यार्थ का निश्चय हो जाता है तो मैं ही ब्रह्म हूं ये मैं देह नहीं हूं इंद्रिय नहीं प्राण मन बुद्धि नहीं शब्द से तो रट कर एक श्लोक में सब आ जाएगा न हम देह न प्राण मन बुद्धि किंतु समझ करके ये मनन होता है तो निश्चय होता है इसलिए सम्यक परिगृह आत्मभाव है ना परिगृह वह ऐसा नहीं अहम अस्मि निश्चय होता मनन के द्वारा तो परिग्रह का तो उपादाय ग्रहण करके मर्त्य मरण धर्म मरणम धर्म यस्य स मरण धर्म मरण धर्म वाला है जीवन मनुष्य आई इसको कहा आत्म तत्व को धर्म्यम धर्माद अनपेतम धर्म्यम धर्म से प्राप्त होता है धर्म कोटि में प्रविष्ट नहीं तो अयम तो परम धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम यह जो समाधि है वेदांत में ब्रह्म का निश्चय निश्चय बुद्धि में उसके लिए शरीर आदि नहीं लगातार सात दिन दस दिन बैठेंगे उसके बाद ज्ञान होगा ये बात नहीं है ऐसे कोई कोई कह देते हैं तो ध्यान में लगा समाधि लग गई पंद्रह दिन में बैठ गए लगातार पंद्रह दिन साधन में बैठ जाए तो ज्ञान होगा ज्ञान के लिए एक इच्छा ने भी नहीं लगता है हाँ, साधन हो साधन संपत्ति हो विपरीत भावना की निवृत्ति मनन के बाद ही जब मनन नहीं कर पाएगा निधि ध्यान नहीं कर सकता है मनन पहले करना पड़ता है श्रवण मनन जो लगाए जो अधिकारी है श्रवण मनन करते करते ही निधि ध्यान हो ही जाता है यदि निधि ध्यान नहीं होता है कुछ वासना है तो निधि ध्यान नहीं होगा मनन भी नहीं कर सकता है अधिक वासना है तो श्रवण भी नहीं कर सकते कहते इतने श्रवण करके क्या लाभ है किसको सुनाना है भागवत पढ़े चलो वृंदावन सुनाने के लिए भागवत तो ठीक है उपनिषद ठीक है उपनिषद सुनाएगा तो कोई सुनेगा यहाँ तो पढ़ जाते साधु लोग कहे और जाओ अन्यत्र लोगों के सामने कहो <laughs> बोले क्या ये एक बार ही भगवान का नाम नहीं अभी तो एक बार भजन नहीं कराया कथा में बैठे अभी तो भजन नहीं कराया <laughs> ताली मारो भजन करो बाजा बजाओ नाचने लगो तब तो ठीक है कथा एक बार ही भजन नहीं हुआ ये क्या क्या ब्रह्म नहीं तो रजू सर्व यही करते रहते हैं लोग सोते नहीं तो भाग जाते हैं कुछ तो भाग जाएंगे जो बैठे हैं सो जाएंगे हां भागवत कथा कर दो ठीक है बहुत लोग नाम से आ जाएंगे तो सब कुछ तो कहते बोलते पढ़ कर क्या करना है किसको सुनाना कोई सुनेगा इसे चलो अब खंडन खंड खाद्य थी कहते इसको पढ़ कर क्या लाभ है कौन हो इसका कोई क्या प्रयोजन अर्थात प्रयोजन केवल यही कि लोगों को सुनाना लोगों के सामने ही जब गर्जन करने की इच्छा हो तो ये खंडन चेसुखी न्याय व्याकरण ज्यादा क्या जरूरत है लघुपुरी करने की आवश्यकता नहीं लघुपुरी नहीं करके भी भागवत के अच्छे कथाकार बन गए लोगों को मानते बड़े विद्वान है लघु नहीं पढ़े हमको मालूम है लघु नहीं पढ़ा हुआ तर्क संग्रह क्या है तर्क संग्रह तो ये मंगलाचरण भी नहीं आएगा आगे कुछ रटकेर कोई बोला कुछ नहीं किंतु लोग मानते बड़े कथाकार है सुनते सुनते बोलते बोलते कथा पुस्तक पढ़ कर कहते कहते कथा सुंदर कह देते हैं बस इसलिए मनन भी नहीं कर पाएंगे वासना हो तो श्रवण भी नहीं कर पाएंगे श्रवण करने के बाद मनन अरे मनन श्रवण करने के बाद थोड़ा जला कि हमको बहुत आ गया तो फिर एक कुछ मंत्र कंठस्थ कर लिया कुछ आ गया तो फिर अब मनन क्या करेगा अभी लोगों को सुनाओ ये जो वासना है लोगों के पास जाना सुनाना ये वासना होने से श्रवण न पूरा होता है मनन कहाँ करेगा और श्रवण मनन मनन ही करे मनन जब तक नहीं होता है तो श्रवण चलता रहे श्रवण मनन दोनों दोनों करते करते जब संशय दूर होता है तो श्रवण काल में ही ब्रह्माकार कार वृत्ति है मैं ब्रह्म ऐसा निश्चय मैं देहादि में अहम बुद्धि है वो निश्चय कि देहादि में नहीं हूं ऐसा निश्चय हो जाना ये ब्रह्माकार वृत्ति है वो निश्चय अधिक समय नहीं रहता है थोड़ी देर के लिए कभी हो जाता है फिर बाद में देह में अहम बुद्धि होती है किंतु ऐसे श्रवण मनन करते करते ही निधिध्यासन होता है इसे परिब्रह का तो निश्चित मनन करके मरण धर्म धर्म प्रबृह का तो उद्यम्य उद्यम्य क्या है पृथक कृत्य पृथक करना क्या है सराधे देहेंद्र मन प्राण से पृथक करके देहादि में अहम बुद्धि पहले है मनन करके समझ लिया किंतु समझे पर अहम ऐसे करते समय देह आदि में अहम बुद्धि नहीं हो देहादि से विलक्षण देह मेरा इंद्रिय मध्यम बुद्धि मदिया बुद्धि मध्यम मन मदिया प्राण ये सब मेरे मेरे जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ जैसे मेरे मकान है वो कपड़ा वस्त्र पुस्तक आदि है जो मध्यम तद न अहम तो देहादि मेरे है इसलिए मैं नहीं हूँ ऐसे करके इनसे भिन्न मैं हूँ ऐसा निश्चय करके रहना यही पृथक करना शब्दन से नहीं समय पृथक करते करते समझते समय ऐसा हो जाए कि मैं इनसे विलक्षण आत्म तत्व हूं वो लक्ष्यार्थ का निश्चय करना यह निधि ध्यासन पृथक कृत्य जैसे में श्रवण मनन ध्यासन आ गया श्रुत्वा श्रवण संपरिग्रह मनन अप्रवृह निधि ध्यासन आगे अणु में तो आप्य ये साक्षात्कार अणुम सूक्ष्म एतम आत्मानम आप्य आप्य का तो साक्षात कृत्य प्राप्त करके प्राप्ति साक्षात्कार ज्ञान हो तो प्राप्त हो गया समर्थ्य जो विद्वान है मरणदन वाला जीव है मोदते आनंद परिपूर्ण आनंद रूप में स्थित हो जाता है मोदनियम ही लब्ध्वा मोदनीय हर्षनियम हर्षणीय मोदनीय आत्म है उससे बढ़कर कोई दूसरा है ही नहीं मोदते थे मोदनम मोदनियम अनियरम अनियर हो गया मोदनियम जिससे प्रसन्न होता आत्म तत्व ही आत्म तत्व आनंद है परिपूर्ण आनंद उसके प्रतिबिंब से ही विषय सुख लोग कहते हम का मानते सुख सुख विषय प्राप्त होने पर परमानंद की थोड़ी अभिव्यक्ति प्र, प्रतिबिंब हो जाता है वृत्ति में उसको आनंद मानते हैं किंतु वास्तव आनंद तो परमात्म तत्व आत्मानम लब्ध्वा हर्ष शोक जहाति हर्ष छोड़ दिया पहले कह दिया था वो परमानंद की अभिव्यक्ति मोदते मोदने अमिरब्धा मोदने प्राप्त करके मोदते आनंद रूप से रहता है विवृतम सद्म नचिकेत समन्वय तद एवं विधम ब्रह्म सद्मम ऐसा जो ब्रह्म सद्मय भवनम ब्रह्म भवन है स्वरूप नचिकेत संत्वाम प्रति अपावृत द्वारम विवृतम अभिमकीभूतम मन्ने तुम्हारे प्रति अपावृत द्वारम अपावृत कोला हुआ द्वार ब्रह्म भवन ब्रह्म प्राप्ति के लिए तुम्हारा पति द्वार खोला हुआ विवृतम अभिमुखीभूतम प्रसन्न है अभिमुखी तो यम एवे सब्रुणते श्रुति कहती है तुम्हारे लिए खोला हुआ तुम्हारे प्रति प्रसन्न है परमात्मा तत्व ऐसा मैं मानता हूँ अर्थात मोक्षारहम मन अन्यति अभिप्राय मुक्ति के योग्य तुम हो ऐसे यमराज ने कहा ये अभिप्राय नचिकता देखता है पूछा आत्म तत्व का उपदेश करना पहले तो क्या क्या देखा है ले लो धन ले लो रथ ले लो अवसर नित्यवादी इत्यादि चिरजीवन बहुत देखा है नहीं चाहे कहने के बाद अब आत्म तत्व उपदेश नहीं करके स्तुति करने लगे हाँ ये स्तुति से क्या होगा बहुत क्या होता है स्तुति करने लगा बहुत खुश पहले तो विषय प्राप्त होता था बड़ा खुश है उसके बाद स्तुति करने लगे बड़ा खुश से स्तुति सुनते सुनते अपने लक्ष्य को भूल जाए उसको बुद्धिमान कहा जाएगा क्या किसके लिए आया और कोई आज क्या पर क्या तो आप तो बहुत बड़े बहुत अच्छा बहुत अच्छा बड़ा खुश है और किस लिए गए थे तो भूल गए स्तुति सुन करके खुश होकर वापस आ गए कितने मूर्खता है गया था किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए और वो बड़ी स्तुति करने लगा बड़ा खुश होकर गए वो भी थोड़ा स्तुति लिया वो भी थोड़ा स्तुति कर गई बड़े खुश हो गया क्या लेकर आया कुछ नहीं स्तुति करने लिया ये नचिकेता सामान्य नहीं यदि देह व्यतिरिक्त से आत्मन पृष्ठ से परमार्थ स्वरूप ज्ञानमेव निश्चय साधनम तरी तदेव ब्रूहि नचिकेता कहता है देह से व्यतिरिक्त आत्मा जो पहले पूछा ययम प्रेत विचिकित्सा अस्तित्व के नायम अस्तित्व च हे नहीं आत्म तत्व देह के बाद मरने के बाद जो देह से अतिरिक्त आत्म तत्व है जो पहले पूछा था उसके परमात्म स्वरूप ज्ञान ही मुख्य साधन है आपने कहा आत्म तत्व के परमार्थ स्वरूप ज्ञान वास्तव स्वरूप का ज्ञान अभी तो आत्मा मिलाकर ज्ञान तो सब है परमार्थ स्वरूप जो वास्तव स्वरूप है आत्म तत्व उसका ज्ञान ही यदि मुख्य साधन है तरे तदेव ब्रूही वही मुझे कहिए ये सब छोड़ दीजिए ये सब प्रशंसा से क्या मिलेगा वो तत्व मुझे कहिए इतिहा यदि हम योग्य यदि मैं योग्य हूँ अधिकारी हूँ और प्रसन्नश्चासी भगवान माम प्रति मैं अधिकारी शिष्यत्व ने योग्य हूँ आप कहते हो और आप मेरे प्रति प्रसन्न है तो उसका उपदेश कीजिए अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र आत्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत् पश्यसि तद्वद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद धर्म है विहित कर्म शास्त्रीय कर्म अनुष्ठान करेंगे कर्म अनुष्ठान कर सदृश होता है उसका फल ये सब से अन्यत्र है आत्म तत्व जितने पुण्य कर्म करे स्वर्ग आदि प्राप्ति है स्वर्ग आदि हिरण्यगर्भ तक ये जितने हैं उसे विलक्षण आत्म तत्व धर्म धर्म के साधन उसका फल और सबसे विलक्षण आत्म तत्व अन्यत्र अधर्माद अधर्म से भी अधर्म में अभी निषिद्ध कर्म उसके फल इसे विलक्षण आत्म तत्व दोनों जहाँ नहीं है आत्म तत्व है विहित कर्म निषिद्ध कर्म कर्मजन्य फल कुछ नहीं शुद्ध आत्म तत्व है अन्यत्र अस्मात् कृता कृता कृत और अकृत कृत है जो किया जाता है कार्य न कृत तो अकृत कारण लेना जो कार्य और कारण ब्रह्म किसी का कार्य नहीं किसका कारण भी नहीं है कारण तो माया से है वास्तव नहीं है जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से माया विशिष्ट है माई का माया को उपाधि ले करके जगत की उत्पत्ति और माया जो है पारमार्थिक कोई वस्तु अलग ब्रह्म से भिन्न नहीं है माया से उत्पत्ति का तो वास्तव नहीं है कोई जादूगर माया से कुछ देखा देता मतलब करता कुछ नहीं खाली देखाता माया से सृष्टि करने से माया से ही कारण वास्तव कारण नहीं है कारण तो जो ब्रह्म जन्मादि से तो कहा ईश्वर तत्पथ का वाच्यार्थ माया विशिष्ट चेतन शुद्ध चेतन उससे विलक्षण है कारण से भी विलक्षण है कार्य कारण दोनों कार्य जब मिथ्या है कारण भी ऐसे मिथ्या है मिथ्या कार्य का जनक कारण भी मिथ्या है इसलिए कृत कार्य अकृत कारण ये दोनों से विलक्षण अन्यत्र भूताच भव्याच अतीत काल भव्य भविष्यत काल वर्तमान काल तीनों काल से विलक्षण काल परिचन्न नहीं ब्रह्म बाकी जितने पदार्थ सब काल परिचिन्न है ये तीनों काल से अतिर काल अतिरिक्त जो काल परिचिन्न नहीं है यत तत्पश्यसि उसको आप जानते हैं तदवद वो मुझे कहिए टीका में अतएव वरदान व्यतिरेकेण अपूर्वयम प्रश्न इति नियम कोई कहते जो वरदान तीन वर दिया था पहले तो येम प्रेते विचिकित्सा आत्मतत्व के विषय में अभी उसको छोड़कर दूसरा ही के प्रश्न करने लगा अन्यतः धर्माद अन्यतः धर्मा धर्माधर्म से विलक्षण तो वरदान से अतिरिक्त एक दूसरा प्रश्न है ऐसे शंका नहीं करना जिस आत्मतत्व को पहले पूछा था उसे आत्मतत्व विषय का ये प्रश्न है वही आत्मतत्व के ज्ञान से परमार्थ स्वरूप ज्ञान से मुख्य वो परमार्थ स्वरूप है आत्मतत्व धर्म अधर्म कार्य कारण तीनों काल से विलक्षण है उसको बताइए उसी विषय की प्रश्न है पूर्व पृष्ठ सेव यथा तथ्य प्रश्न जो पहले पूछा गया आत्म तत्व तो देह के बाद रहता नहीं रहता उसका पारमार्थिक स्वरूप जानने के लिए यथा तथ्य विषय का प्रश्न पृष्ठ से वस्तु न विशेषणांतरम ज्ञान साधन वक्तुम जो पृष्ठ आत्म तत्व वस्तु है ज्ञान उसकी साक्षात्कार का साधन ये विशेषणांतरम जो पहले का कहा नैषातर किरणमतिराप या आगे उपासना आदि कहेंगे प्रणव उपासना आदि इसको पूछता है विशेषणांतरम ज्ञान साधन करने के लिए कि तो उसी के लिए प्रश्न उसका ज्ञान कैसे होगा उसको उपदेश कीजिए यदि हम योग्य प्रसन्नस्य असि भगवान माम प्रति मेरे प्रति आप प्रसन्न है तो अन्यत्र धर्मात शास्त्रियात धर्मानुष्ठानात तत्फलात् तत्कार्य के व्यस्त पृथक धर्म कर्ण से धर्म उपलक्षण है धर्म शब्द से मीमांसा में धर्म चोदना लक्षण अर्थ धर्म विधि वाक्य प्रमाण विधि प्रमाण है धर्म में यागादिरेव धर्म मीमांसा में यागादि को धर्म कहा गया तर्क में कहते बीत कर्मजन्य धर्म निषिद्ध कर्मजन्य तो अधर्म दो धर्म विहित कर्म से उत्पन्न होता है जिसको अदृष्ट पुण्य कहते हैं तर्क शास्त्र में उसको धर्म कहते हैं और मीमांस में विहित कर्म को कहा धर्म तो धर्म है शास्त्रीय शास्त्र में विधान किया गया कर्म उसके अनुष्ठान करने पर तो सब ले लेना विहित कर्म विहित कर्म जो अनुष्ठान से जो फल होता है अदृष्ट के द्वारा और उसका कारक कर्ता आदि ये सबसे विलक्षण आत्म तत्व पृथक भूतम अन्यत्र का तो पृथक भूतम शास्त्र विहित कर्म कर्म कर्मानुसार कर्म का फल उसका कारक साधन ये सबसे विलक्षण आत्म तत्व तथा अन्यतर धर्मात् अधर्म से कौन से शास्त्र निषिद्ध कर्म है तजन्य फल उसका कारक सबसे विलक्षण है तथा अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् कृत अकृत दोनों से विलक्षण है कृतम कार्यम अकृतम कारणम अस्माद् अन्यत्र कृत हो गया कार्य न कृत अकृत इति कारण लेना अकृत तो कार्य कारण से विलक्षण है किंच अन्यत्र भूताच भव्याच अन्यत्र भूताच भूत अतिक्रांतात् कालाद जो काल चला गया अतीत काल से भिन्न है भव्याच भविष्यतश्च आगे जो काल आएगा भविष्यत काल उससे भी विलक्षण है आत्म तत्व तथा वर्तमान वर्तमान काल से भी विलक्षण है तीनों काल से विलक्षण कालत्रयन यन्न परिच्छिद्यते इत्यर्थ जो वस्तु काल त्रय से परिचिन्न नहीं हो तीन प्रकार परिच्छेद देश परिच्छेद वस्तु परिच्छेद काल परिच्छेद देश परिच्छेद क्या है देश परिच्छेद अत्यंत अभाव अत्यंत अभाव प्रत्योगित्वम देश परिच्छेद देश परिच्छिन्न होगा अत्यंत अभाव प्रतियोगी जिसका अत्यंत अभाव होता है वह देश परिचिन्न है जिसका अत्यंत अभाव कहीं भी हो कभी भी हो अत्यंत अभाव है वो देश परिचिन्न एक देश में है अन्य देश में नहीं वो देश परिचय है हिमालय पर्वत देश परिचय है समुद्र देश परिचय है सूर्य देश परिचय है सूर्य है हाँ एक देश में तो एक देश में नहीं हिमालय पर्वत यहाँ तो अन्यत्र नहीं समुद्र जहाँ है यहाँ नहीं ये सब देश परिचिन्न है और काल परिचिन्न होता है एक काल में वो अन्य काल में नहीं हो कोई भी कार्य उत्पत्ति के पहले नहीं था ध्वंस के बाद नहीं रहेगा इसलिए जितने ध्वंस प्रतियोगी अथवा प्रागह प्रतियोगी जिसकी उत्पत्ति होती है प्रागह प्रतियोगी जिसका नाश हो सकता है वो ध्वंस प्रतियोगी ये सब काल परिचय है काल परिचय हो तो अत्यंताभाव प्रतियोगी अथवा नहीं ध्वंस प्रतियोगी अथवा प्रागह प्रतियोगी होता है काल परिचय और अत्यंताभाव प्रतियोगी क्या होगा देश परिचय और एक होता है वस्तु परिचय अन्योन्या भाव प्रतियोगी अन्योन्या भेद जिससे भिन्न कोई पदार्थ हो वो वस्तु परिचय है जिससे भिन्न घट से भिन्न पट है तो अन्योन्या भाव घट का भेद पट में है वो अन्योन्या भाव प्रतियोगी घट हो गया वस्तु परिचय है आत्म तत्व अनंत है कहा गया सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म अनंत का अर्थ अविद्यमान अंतो यस्य अंत शब्द का अर्थ परिच्छेद जिसमें कोई भी परिच्छेद नहीं रहे देश परिच्छेद काल परिच्छेद वस्तु परिच्छेद तीनों नहीं रहे तो ब्रह्म अनंत है ब्रह्म का किस देश में अभाव नहीं होगा क्योंकि देश परिचिन्न नहीं है किसी काल में ब्रह्म का अभाव नहीं काल परिचिन्न नहीं है कोई वस्तु ब्रह्म से भिन्न नहीं क्योंकि वस्तु परिचिन्न नहीं है ब्रह्म से भिन्न यदि कुछ ही मान लिया तो ब्रह्म वस्तु परिचिन्न हो जाएगा वस्तु परिचय जो हो गया एक परिचय तो ब्रह्म में आ गया उसको अनंत नहीं कहा जाएगा जिसका दस पुत्र है वो सपुत्र है दस पुत्र है तो सपुत्र है ना नहीं जिसका दस पुत्र ने एक ही पुत्र है वो क्या सपुत्र है एक पुत्र होने से सपुत्र होगा एक पुत्र रहेगा तो भी अपुत्र नहीं कहा जाएगा जिसमें एक रूप है वो स्वरूप है नहीं तो सब निरूप हो जाएंगे ये भी निरूप इसमें रक्त रूप है क्या ये निरूप है ऐसा नहीं वायु निरूप है इसमें कोई रूप नहीं एक रूप रह गया तो निरूप नहीं है एक यदि अंतर रह जाएगा उसको अनंत कहा जाएगा तीन परिच्छेद है तीन परिच्छेद में एक परिच्छेद यदि अंतर रह गया वस्तु परिच्छेद उसको अनंत कहा जाएगा श्रुति कहती अनंतम ब्रह्म कोई भी परिच्छेद नहीं ये दृढ़ निश्चय करना है ब्रह्म का किसी देश में अभाव नहीं किसी काल में अभाव नहीं और वस्तु परिचिन्न नहीं अर्थात ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है कोई भी पदार्थ ब्रह्म से एक परमाणु को यदि ब्रह्म से भिन्न मान ले तो ब्रह्म वस्तु परिचिन्न हो जाएगा ब्रह्म वस्तु परिचिन्न नहीं वासुदेव सर्वम सर्वम ब्रह्म कहा गया देश काल वस्तु परिचित रहित इसलिए काल परिच्छिन्न नहीं है किसी काल से काल त्रण यन्न परिच्छेद्यते तीनों काल से परिच्छिन्न नहीं कार्य कारण जितने हैं उससे भी विलक्षण है सारे पदार्थ कार्य कारणात्मक उससे विलक्षण कारण से वस्तु परिचय भी नहीं है यदि ईदृशम वस्तु यद ईदृशम वस्तु सर्व व्यवहार गोचरातीतम पश्यसि जानासि जो इस प्रकार वस्तु है देश काल वस्तु परिचय रहित कार्य कारण से विलक्षण धर्म अधर्म से विलक्षण सर्व व्यवहार गोचर अतीतम सारे व्यवहार विषय का विषय से विलक्षण व्यवहार का विषय सब कार्य कारणात्मक जगत है काल परिचन्न उसे विलक्षण जानते हो तद्वदमयम वो मुझे कहिए यमराज से नचिकेता कहता है तत्पस्यसि तद्वद वही मुझे उपदेश कीजिए यहाँ अभी तक तृतीय प्रश्न का उत्तर प्रारंभ नहीं हुआ पहले मना कर दिया उप, अन्य पूछो उसके बदले बहुत चीज मांग लो दिखा दिया सब उसके बाद जो कहता नहीं कुछ नहीं है मन से भी नचिकेता नहीं चाहता है श्रुति कहती कुछ नहीं चाहिए तो फिर उसकी स्तुति करने लगे बड़ी स्तुति करके तो करते करते फिर सुनते सुनते नचिकेता थक गया बीच में कहा नहीं धर्म धर्म से विलक्षण मुझे कहिए तो उसके बाद फिर कहेंगे तो कहने के पहले फिर थोड़ा आत्म तत्व के ऊपर कुछ विश्लेषण कहते हुए आगे उपदेश प्रारंभ होगा ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह